रघुपति प्रेम बस देखी सदय दुख भय करुणामय रघु नाथ गोसा पाए यही पीर पराए प्रेम मृदु बचन सुहाए बहु विधिराम लोग समुझाए किए धर्म पर देश घने रे लोग प्रेम बस फिर न फिर प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश किए परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते नहीं सील सड़े शील सड़े छाड़ नहीं जाए असमंजस बस भेर गुराए लोग सोग श्रम बस गए सोए कछुक देव माँ या मति मोई जब हिराम जुग जामिन बेते राम सचिव सन कहे उस प्रीती यमारि रथ हाकहुताता आन उपाय बनी नहीं बाता शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए दुविधा में पड़ गए शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा हे तात रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी राम लखन सिय जान चढ़े शंभु चरण सिरनाय सचिव चलाय तुरत रथो हित खो जदुराय शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और शीशिता जी रथ पर सवार हुए मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चल दिया जागे सकल लोग भय भोरु गैर गुनाथ भय अति सोरू रत कर खोज कतहु नहीं पावहि राम राम कहे चहुदी सिधावहि ननहु बार निधि बूढ़ जहाजो भयऊ बिकल बल भयऊ बिकल बल बनिक समाजो कहीं एक उपदेश तजे राम हम जाने करे सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए कहीं रथ का खोज नहीं पाते सब हाराम हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है सराह जीवन रघु ीरवि जोपप्रिय वि योगविधि देन्हा न मागे एहि विधि करत प्रलाप कलाप आये अवध भरे परिता विषम वियोगुन जाए बखान अवधियास सब राख प्राण वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता चौदह साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं राम दरस नेम व्रत लगे करन नर को के को के कमल देन देन तमारी सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं